वे वेर में की मैं शाम वाले बाजार गई तुर के नानो मील मेरी हर रोंद पर दादार गई अल सुन में वेर में की मैं शाम वाले बाजार गई ईंदा विच बाज़ार देबा पर तत हीर परदा दारा काफी वारे घाग दे जाने को शायद वे सादार गई हाल सुन वे देर में की शाम वाले बाजार गई